और अगर आप उन्हें हिदायत की दावत दें तो वो आपके पीछे ना चलेंगे तुम पर बराबर है खा हाँ, तुम उन्हें पुकारो या तुम खामोश रहो